talks Dhammo Dhammo number seventy two छठवा प्रश्न बुद्धत्व के अंतिम चरण में क्या मौन अनिवार्य घटना है कृपा करके कहें अंतिम में तो नहीं अंतिम से एक चरण पूर्व मौन अनिवार्य है अंतिम में तो फिर बोलना होगा बुद्ध बोले चालीस साल हां एक चरण पूर्व मंदिर में प्रवेश के एक चरण पूर्व एक सीढ़ी पहले मौन अनिवार्य है जो मौन हुआ वही मंदिर में प्रविष्ट होता लेकिन जो मंदिर में प्रविष्ट हो गया उसे फिर दौड़ दौड़ गांव गांव नगर नगर हृदय हृदय को जाके दस्तक देनी पड़ती कि मैं जाग गया तुम भी जाग सकते हो फिर उसे बोलना पड़ता कहना पड़ता जैसे मौन अनिवार्य है मंदिर में प्रवेश के पूर्व वैसे ही जब मौन में उपलब्ध हो गई आत्मा मौन में जान लिया स्वयं को तो अभिव्यक्ति भी अनिवार्य है सभी ज्ञान को पहुंचे व्यक्ति मौन को उपलब्ध होकर ही पहुंचते लेकिन सभी ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं करते इससे दुनिया की बड़ी हानि होती अगर सभी ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति जो उन्होंने जाना है उसे कहने की चेष्टा करें यह जानते हुए भी कि कहना बहुत मुश्किल है और कह भी दो तो समझने को कौन तैयार है समझना और भी मुश्किल है ये जानते हुए भी दीवालों से चर्चा करने के लिए जो बुद्ध पुरुष आए उनकी करुणा महान है ये जानते हुए कि जो जाना है उसे कहना मुश्किल फिर किसी तरह बांध बूंद के कह भी दो संभाल संभूल के किसी तरह कह भी दो तो जो सुन रहा है उसका समझना मुश्किल फिर भी सौ से कहो तो शायद कभी कोई एक समझ लेता है सौ बार कहो तो शायद कभी कोई एक बार समझ लेता है इसलिए कहे जाओ इसलिए बुद्ध बयालीस साल तक सतत बोलते रहे सुबह दोपहर सांझ सारा बौद्ध वचनों का संकलन किया जाता है तो भरोसा नहीं आता कि एक आदमी इतना बोला होगा लेकिन यह घटना घटी मौन से मौन से ही यह परम मुखरता घटी पहले तो शून्य घटता है शून्य में अनुभव होता है फिर अनुभव शब्द बन के बिखरना चाहता है बटना चाहता है जो बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति अभिव्यक्ति देता है वही सदगुरु हो जाता है बहुत से लोग अरहत हो जाते हैं उन्होंने पा लिया सत्य को फिर गुपचुप मार के बैठ के बैठ जाते चुप हो जाते कबीर ने कहा ना हीरा पायो गांठ गठियायो बाकू बार बार क्यों खोले अब हीरा मिल गया जल्दी से गांठ बांध के चुप्पी साथ के बैठ गया उसको बार बार क्या खोलना ठीक है ये बात भी ठीक है किसी को ऐसा लगता तो ऐसा करेगा लेकिन बुद्ध पुरुष उसे बार बार खोलते सुबह खोलते दोपहर खोलते सांझ खोलते जो आया उसी को खोल के बताते हीरा पायो उसको गांठ नहीं कठिया लेते कहते देख भाई ये हीरा मिल गया तुझे भी मिल सकता है हालांकि ये हीरा ऐसा है कि कोई किसी को दे नहीं सकता नहीं तो बुद्ध पुरुष इसको दे भी दे ये हीरा ऐसा है कि इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है ये अगर बुद्ध पुरुष दे भी दें तो तुम्हारे हाथ में जाके कोयला हो जाएगा तुम्हें पता है कोयला और हीरा एक ही तरह के रासायनिक द्रव्यों से बनते कोयले और हीरे में कोई रासायनिक भेद नहीं है कोयला ही लाखों साल तक जमीन के दबाव के नीचे पड़ा पड़ा हीरा हो जाता कोयला ही आज नहीं कल वैज्ञानिक विधि खोज लेंगे कोयले पर इतना दबाव डालने की कि जो बात लाखों साल में घटती है वो क्षण भर में दबाव के भीतर हो जाए तो कोयला हीरा हो जाएगा और अगर हीरे पर से जो लाखों साल में दबाव पड़ा है उसे निकालने का कोई उपाय हो तो तत्क्षण हीरा कोयला हो जाएगा तो कोयला और हीरा अलग अलग नहीं है बुद्ध पुरुषों ने जन्मों जन्मों में जो खोजा है जो दबाव डाला है कोयले पर उसके कारण वो हीरा हो गया है वो हीरा उनके हाथ में ही हीरा है जैसे ही तुम्हारे हाथ में गया दबाव निकल जाता तुम्हारा तो कोई दबाव है नहीं वो कोयला हो जाता इसलिए इस हीरे को दिया तो जा नहीं सकता लेकिन दिखाया तो जा सकता है तुम्हें बताया तो जा सकता है कि ऐसा होता है यह है देख लो यह तुम्हारे भीतर भी हो सकता है एक दिन मेरे भीतर भी नहीं था मैं भी कोयले को ही ढोता रहा लेकिन फिर यह अपूर्व घटना घटी ये चमत्कार हुआ ये तुम्हारे भीतर भी हो सकता है जैसे मेरे भीतर हुआ वो विधि मैं तुमसे कह देता हूं तो सदगुरु तो उस गांठ को खोलता रहेगा कबीर ने दूसरे अर्थ में कहा है उन्होंने कहा है साधक के लिए शुरू शुरू में ऐसा नहीं करना चाहिए कबीर का मतलब यह है कि जब शुरू शुरू में ध्यान लगना शुरू हो तो जल्दी जल्दी खोल खोल के गांठ मत दिखाना नहीं तो उड़ जाए पक्षी शुरू शुरू में मत करना जल्दी बताने की होता है मन बताने का कि कह दें किसी को कि ऐसा हुआ तुमने कभी ख्याल किया जो लोग ध्यान कर रहे हैं ठीक से उनको कई बार अनुभव में आएगा खूब रस आ रहा था ध्यान में और तुमने किसी से कहा फिर दूसरे दिन रस नहीं आता पक्षी उड़ गया कहने में ही भूल हो गई तुमने कह के जो मजा ले लिया उससे अहंकार थोड़ा मजबूत हो गए तुमने किसी को कहा कि ध्यान में गजब का अनुभव हुआ कि कुंडलनी जगी कि रोशनी उठी आंख कि तीसरी आंख खुलती हुई मालूम पड़ी तुम जब कह रहे थे तब तुम्हें ख्याल भी नहीं था तुम तो सिर्फ आंदोलित थे आनंदित थे तुमने कह दिया पत्नी को कह दिया पति को कह दिया मित्र को कह दिया सोचा भी नहीं था लेकिन कहते कहते तुम्हारे भीतर अहंकार निर्मित हो गए तुम्हें एक अकड़ आ गई कि देखो एक हम एक तुम कहां पड़े कूड़े कचरे में अभी तक संसार में उलझे ऐसा तुमने कहा भी ना हो ऊपर से लेकिन ऐसी एक लहर भीतर दौड़ गई कि अभी तक पड़े हो गंदगी में एक हम देखो एक तुम जरा हमारी तरफ देखो एक पवित्रता का भाव आ गया कि हम कुछ संत हो गए बस उसी भाव में गड़बड़ हो गई दूसरे दिन ध्यान करने बैठोगे ना कुंडलनी जगती न रोशनी आती न तीसरी आंख का कोई पता चलता तुम बड़े हैरान होते कि बात क्या हो गई बहुत कोशिश करते हो चेष्टा करते हो और छूट छूट जाती है बात कबीर ने उनके लिए कहा है हीरा पायो गांठ गठियायो बाकू बार बार क्यों खोले लेकिन जब हीरा पक गया हीरा पक गया इसका अर्थ होता है जब अहंकार के पैदा होने की कोई संभावना ही ना रही कि सारी दुनिया आ जाए और इस हीरे को देख ले तो भी तुम्हारे भीतर कोई अस्मिता निर्मित नहीं होती क्योंकि तुम जानते हो कि यह हीरा सबके भीतर पड़ा है यह कोई विशिष्टता की बात नहीं बुद्ध ने कहा है जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ मेरे लिए सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हो गया ये बड़ी अनूठी बात कही है इसे मैं अपने अनुभव से गवाही भी देता हूं कि यह बात सच है ये मैं भी तुमसे कहता हूं कि जिस दिन मैंने जाना उस दिन मैंने ये भी जान लिया कि सब जान चुके क्योंकि जिस दिन पाया जाता है उस दिन पता चलता है सबके भीतर ये हीरा पड़ा है तुम्हें पता ना हो ये दूसरी बात लेकिन हीरा तो पड़ा ही है तुम्हें ना दिखता हो मुझे तो दिखता है जिसे अपना हीरा दिख गया उसे सबके भीतर के हीरे दिखाई पड़ गए जिसकी आंखें रोशनी देखने में समर्थ हो गई उसकी आंखें सबकी रोशनी देखने में समर्थ हो गई बुद्ध का यह वचन महत्वपूर्ण है कि जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ मेरे लिए सारा जगत ज्ञान को उपलब्ध हो गया उस दिन के बाद कोई अज्ञानी है ही नहीं तो फिर बुद्ध समझाते क्या है बुद्ध को कोई पूछता है कि अगर ऐसा है कि आप अब जानते हैं कि सभी ज्ञानी हो गए तो आप समझाते क्या तो बुद्ध कहते हैं यही समझाता हूं कि लोग अपने को अज्ञानी माने बैठे मैं उनको यही समझाता हूं कि अज्ञानी तुम नहीं हो ज्ञानी हो मुझे कुछ समझाने को नहीं बचा है मेरे लिए तो बात साफ हो गई कि सब ज्ञानी मगर वो जो ज्ञानी है वो अपने को अज्ञानी माने बैठे उनकी मान्यता तोड़नी लेकिन जब परम अवस्था घटती तब भी कुछ लोग गांठ बांधे रह जाते उनसे भी कुछ कहा नहीं जा सकता इसलिए सारे धर्मों ने दो भेद किए जैनों ने भेद किया है एक को वो कहते हैं केवली जिन जिसने जान लिया जिनत्व को उपलब्ध हो गया समाधि को परिपूर्ण पा लिया लेकिन चुप भी साथ कर रह गया फिर कुछ बोला नहीं उसको कहते हैं केवलीजन वो केवलत्व को उपलब्ध हो गया बस गया शून्य में महाशून्य में चला गया दूसरे को कहते हैं तीर्थंकर तीर्थंकर का अर्थ है जो खुद पाया और फिर दूसरों के लिए घाट बनाने लगा कि यहां से तुम भी उतरो तीर्थ यानी घाट ये सागर इस पर घाट बनाने लगा और कहा कि यहां से तुम भी अपनी नाव छोड़ो हम तो पहुंच गए बिना घाट के लेकिन बिना घाट के नाव छोड़ना सदा खतरनाक होता है हम तो बिना घाट के भी तर गए किसी तरह लेकिन अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां डाल के ठीक से पाट के घाट बना देते अब तुम अपनी नाव को यहां से ले जाओ तो इसको कहते तीर्थंकर जो दूसरों के लिए घाट बनाता है बौद्धों ने भी दो शब्द उपयोग किए एक को कहते अरहत अरहत का अर्थ होता है जिसने पा लिया जिसके सारे शत्रु समाप्त हो गए अरिहंत या अरहत अपने शत्रुओं को जीत चुका है और फिर चुप्पी मार के बैठ गया दूसरे को कहते हैं सत्व जो ज्ञान को पा लिया और अब बांटने निकल पड़ा अब वो कहता है जो मिला है वो बांट भी दू अपनी बात तो पूरी हो गई जो जानना था जान लिया लेकिन बहुत हैं अभी जिनको इसका कुछ पता नहीं उनको जगाने चल पड़ा दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं जब शुरू शुरू में ध्यान की किरण उतरे तो कबीर की सुनना वो साधक के लिए बात है और जब किरण उतर जाए सूरज उग जाए फिर कबीर की बात मत सुनना फिर तो जहां कोई मिल जाए माने चाहे ना माने चाहे देखे चाहे ना देखे तुम पट से अपनी गांठ खोल के उसको हीरा तो दिखाई देना वो चाहे इंकार करे चाहे वो लाख चिल्लाए कि क्षमा करो मुझे नहीं देखना कि मैं फिर देखूंगा अभी मेरा समय नहीं अभी मैं बाजार जा रहा हूं मेरी पत्नी बीमार तुम कहना कोई फिक्र नहीं मगर देख तो लो फिर मिलना हो ना मिलना हो मगर तुम्हें याद रह जाएगी कि हीरा होता है हीरा घटता है और मुझ जैसे साधारण आदमी को घट गया तुम्हें भी घट सकता है आखिरी प्रश्न बहुत से प्रश्न पूछे हैं इन मित्र ने सार में मैंने दो प्रश्न बना लिए एक तो पूछा है आप विश्वविद्यालय में आचारी थे तब आनंदित और प्रतिष्ठित थे कि अब आनंदित तो मैं तब भी था आनंदित अब भी हूं प्रतिष्ठित तब भी नहीं था और अब भी नहीं प्रतिष्ठा मेरे भाग्य में नहीं मगर आनंद मिल गया हो तो कौन फिक्र करता प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा तो वही खोजते हैं जिन्हें आनंद न मिला हो प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हमें भीतर तो कुछ नहीं मिला तो चलो बाहर के लोग ही कुछ प्रतिष्ठा दे दें उससे शायद थोड़ा सा लगे कि कुछ पा लिया है प्रतिष्ठा का अर्थ होता है दूसरे हमें थोड़ा भर दें हम तो खाली हैं दूसरे कहें आप सुंदर दूसरे कहें आप शुभ दूसरे कहें आप शिव दूसरे कहें आप साधु दूसरे कह दें हम तो भीतर खाली हैं अगर दूसरे ना कहेंगे तो हमारे भीतर तो कुछ भी नहीं है प्रतिष्ठा का मतलब होता है उधार कोई कहते तो प्रतिष्ठा तो मैं तब भी नहीं था अब भी नहीं हूं प्रतिष्ठा मेरा भाग्य भी नहीं और प्रतिष्ठा में मुझे रस भी नहीं जिसमें रस था वो तब भी था अब भी है हां अगर तुम पूछते हो शायद तुम्हारा मतलब यही हो कि कुछ फर्क पड़ा कि नहीं फर्क पड़ा है आप महात्माओं से सत्संग तब नहीं होता था अब करना पड़ता है बस इतना ही फर्क पड़ा और तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा दूसरा पूछा है आपने ऐसा क्या किया जिससे कि भगवान हो गए करने से कोई भगवान थोड़ी होता है भगवान होना हमारा स्वभाव है जब तुम करना धरना छोड़ के अपने भीतर देखते हो पाते हो भगवान हम हैं इसका करने से कोई संबंध नहीं तुम शायद सोचते हो कि कितने उपवास किए कितनी दंड बैठक लगाई कितना शीर्षासन किया कितना आसन व्यायाम किया कितना भजन कीर्तन किया तुम शायद इस तरह का कुछ पूछ रहे हो कि किया क्या जिससे आप भगवान हो गए करने से तुम चूक रहे हो कर कर के चूक रहे हो क्योंकि भगवान होना हमारा होना है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं भगवान तुम हो लाख तो उपाय करो तो भी तुम कुछ और हो ना सकोगे हर उपाय असफल जाएगा इसलिए तो जीवन में तुम रो रहे हो क्योंकि हर उपाय असफल जा रहा है कुछ भी करते हो सफल होता नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि जो तुम हो उसे जब जानोगे तभी तृप्ति होगी और तुम कुछ भी होने की कोशिश करते रहो कुछ भी कभी तुम हो ना पाओगे सिर्फ समय जाएगा जीवन व्यतीत होगा व्यर्थ श्रम होगा परिणाम कभी हाथ ना लगेगा तुम रेत से तेल निचोड़ रहे हो तो तुम पूछते हो आपने ऐसा क्या किया तुम्हारी धारणा ऐसी है कि कुछ उल्टा सीधा करो तो आदमी भगवान होता है फिर तुम समझे ही नहीं भगवान तो स्वभाव की घोषणा है ना कुछ करते करते ना कुछ करते करते जब तुम्हारी सारी जीवन चेतना सब तरह के संसरण से संसार से छूट जाती दौड़ से छूट जाती भीतर रमे रह गए ठगे खड़े रह गए जरा भी कल्पना नहीं उठती कि ये करें जरा भी भाव नहीं उठता कि ये हो जाए जरा भी दौड़ की लहर नहीं उठती कि वहां पहुंच जाए यहां और अभी जब तुम शांत विश्राम में पड़े रह गए उसी घड़ी प्रकट हो जाती बात तुम्हारी भगवत्ता प्रकट हो जाती भगवान तुम्हारे भीतर पड़ा तुम्हारी झोली में पड़ा है इसलिए यह बात तो पूछो मत कि क्या करके ऐसा पूछो कि आपने क्या क्या करना छोड़ा जिससे भगवान हो गए तो बात अर्थ की होगी होने की आकांक्षा छोड़ी होने के विचार छोड़े अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बिकमिंग ये हो जाऊं वो हो जाऊं ऐसी सारी धारणा छोड़ी जो हूं ठीक हूं जो हूं उससे राजी हूं जो हूं जैसा हूं यही परम नियति है यही मेरा स्वभाव है इस होने में रमा कुछ और होने की आकांक्षा ना रही उसी क्षण उसी क्षण तत्क्षण प्रकट हो जाती भगवत्ता तुम अचानक पाते हो तुम्हारे हृदय कमल पर भगवान विराजमान है और ऐसा नहीं कि तुमसे अलग विराजमान है तुम ही हो अहम ब्रह्मास्मि आज इतना ही